तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि वहां झील के भीतर खजाना छुपा हुआ है अगर ना हुआ तो मैंने तो पहले ही कह दिया बंदूक तुम्हारे हाथ में ट्रिगर तुम्हारे हाथ में फिर सोचना क्या है विक्रांत ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा या फिर मुझे अभी गोली मार दो और फिर खजाने को भूल जाओ नहीं ये नहीं होगा अचानक से नैना भागते हुए विक्रांत के पास पहुंची और उसने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा मैं मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हें मैं अकेले नहीं जाने दूंगी नहीं तुम नहीं जाओगी तारिक ने नैना की तरफ देखते हुए कहा तुम यहाँ रहोगी और अगर तुम खजाने को नहीं ढूंढ पाए तो फिर मैं इसे गोली मार दूंगा तारिक के आदमियों ने उसके इशारा करते ही नैना को अपनी बंदूक के निशाने पर ले लिया ठीक है तारिक ने फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देखो विक्रांत सर मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है मैं तुम्हें दस मिनट दे रहा हूँ दस मिनट के भीतर अगर तुम वापस नहीं लौटे तो फिर मुझे इस मैडम को मारने में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी क्या तुम बह रहे हो क्या विक्रांत ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा मैंने अभी कहा ना आधा घंटा लगेगा मुझे भले ही मुझे उसका लोकेशन पता है लेकिन फिर भी ढूंढने में तो टाइम लगेगा ना नहीं आधे घंटे बहुत होते हैं मैं इतना वक्त नहीं दे सकता दस मिनट से ज्यादा नहीं इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं अगर इन सबको तब तक जिंदा देखना चाहते हो तो वापस आ जाना वरना इन दोनों बुढ़ों के साथ ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी काम तमाम कमीना नैना ने तारीख की तरफ देखते हुए गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा वो भाग कर विक्रांत के करीब जाना चाहती थी लेकिन इस वक्त तारिक के आदमियों ने उसे इस तरह से पकड़ रखा था कि उसे हिलने भी नहीं दे रहे थे विक्रांत ने नैना को गुस्सा करते देख लिया था सो वो उसे आंख मारकर इशारा करते हुए बोला तुम चिंता मत करो मैं अभी वापस आ जाऊंगा और फिर हम दोनों साथ में मरेंगे अब मरते मरते एक बार खजाना तो देख लेंगे ना विक्रांत की बातों से ही नैना को अंदाजा हो गया था कि उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है उसे उम्मीद थी कि विक्रांत जरूर यहाँ से उसे सबको बचाकर निकाल कर ले जाएगा विक्रांत फिर तारिक की तरफ मुड़ा और फिर बोल पड़ा देखो भाई मुझे कम से कम पंद्रह मिनट तो चाहिए ही इससे कम में नहीं हो पाएगा अब जो आदमी मरने जा रहा है उसे पांच मिनट और नहीं दे सकते क्या ठीक है लेकिन बेटा एक बात समझ लो ना तो तुम्हें कोई लाइफ जैकेट मिलेगी और ना ही कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है ठीक है मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा बस मेरा हाथ खोल दो मैं चला जाऊंगा फिर ओहो टाइम वेस्ट मत करो अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि मैं को धोखा कर सकता हूँ तो तुम कभी भी मुझे गोली मार सकते हो विक्रांत ने अपने हाथ को तारिक की तरफ करते हुए कहा वो इशारों से कहकर अपने हाथ खुलवाना चाहता था हम्म, लेकिन तारिक अभी तक सोच में ही पड़ा हुआ था तभी तारिक का एक आदमी उसके पास पहुंचा और उसके कान में कुछ बुदबुदाने लगा ऐसा लग रहा था कि वो तारिक को विक्रांत को मौका देने से मना कर रहा था तारिक बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था लेकिन उसकी बात सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि तारिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा ये झील आगे जाकर नदी से कनेक्टेड है और नदी यहाँ से अभी काफी दूरी पर जाकर है फिर तारिक ने अपने किसी आदमी को इशारा किया और उसने जाकर विक्रांत का हाथ खोल दिया गणेश तारिक ने गणेश महात्रे की तरफ देखते हुए कहा अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते ना हम दोनों का धंधा एक ही है ना हम्म तारिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ओहो ऐसा करो तुम्हारे पास कोई रस्सी हो तो वो तुम मेरे शरीर से बांध दो फिर जब पानी के भीतर मुझे खजाना मिल जाएगा तो फिर मैं रस्सी खींच कर इशारा कर दूंगा ठीक है विक्रांत ने कहा ठीक है जैसा तुम कहो वैसा ही कर दूंगा तारिक ने कहा फिर वहां पर किसी ने विक्रांत की तरफ टॉर्च बढ़ाते हुए कहा ये ले जाओ वाटर प्रूफ है नहीं कोई जरूरत नहीं है मैं देख लूंगा विक्रांत ने कहा पागल है क्या ये वहां खड़े लोगों ने विक्रांत की तरफ देखते हुए मनी मन बुदबुदाते हुए कहा नहीं ले लो अंदर बहुत अंधेरा होगा नंगी आंख से कुछ नहीं दिखाई देगा प्रोफेसर त्यागी ने कहा टॉर्च ले लो वरना दिक्कत होगी वैसे तो विक्रांत अंदर जाने के बाद वहां इनविजुअल लाइट टूल का इस्तेमाल करने वाला था लेकिन जब प्रोफेसर त्यागी ने टॉर्च लेने के लिए कहा तब विक्रांत उसे मना नहीं कर सका क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता था कि तारिक को उस पर शक होने लगे इसलिए उसने अपने हाथ में टॉर्च ले लिया और फिर वो तारिक की तरफ देखते हुए बोल पड़ा तारिक देखो बस पंद्रह मिनट तक मेरा वेट करो और मैं खजाना लेकर लौट आऊंगा लेकिन तुम अपनी बात पर रहना जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक मेरे किसी भी आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए ये दोनों ओल्ड एक्सपर्ट और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों की जान सुरक्षित रहनी चाहिए हम्म, ठीक है लेकिन बस पंद्रह मिनट इसके बाद मैं तुरंत इन सबको खत्म कर दूंगा तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौटने की कोशिश करना तुम्हारी देरी इन लोगों की जान ले जाएगी समझ लो ठीक है इसके बाद विक्रांत धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ने लगा और फिर तभी नैना पीछे से चिंतित होकर बोल पड़े विक्रांत हम्म, मैं विक्रांत पीछे मुड़कर नैना की तरफ देखने लगा और वो उसे जाकर हक करना चाहता था उसने तारिक की तरफ देखते हुए कहा अच्छा जाते जाते मैं एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को गले से लगा सकता हूँ ना नहीं तारिक ने सख्त लहजे में कहा और उसे डर था कहीं अगर इन दोनों को आपस में मिलने का मौका मिल गया तो फिर ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं विक्रांत ने जवाब दिया और फिर उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा चिंता मत करो बेबी मैं खजाना ढूंढकर जल्दी से वापस आता हूँ और फिर दोनों साथ में मरेंगे विक्रांत ने मौके का फायदा उठाकर नैना को एक फ्लाइंग किस भी दे दिया लेकिन नैना ने इसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी फिर विक्रांत झील में उतर गया वहाँ घुसते ही उसके मुंह से निकल पड़ा ओह पानी आह ठंडा है झील में घुसने के पहले ही विक्रांत ने अपने अदृश्य नाइट विजन को चालू कर दिया था भले ही उसने अपने साथ में लाइटिंग डिवाइस लिया हुआ था लेकिन फिर भी झील के भीतर वो अपने नाइट विजन का ही इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि तो इसकी मदद से ही वो पानी के भीतर बेहतर तरीके से देख पा रहा था जैसे ही विक्रांत ने अदृश्य नाइट विजन को चालू किया तुरंत ही वहां भीतर का सारा नजारा दिखना शुरू हो गया विक्रांत को अब पता चला कि ये झील बहुत गहरी है और साथ ही इसका पानी भी बहुत ठंडा था वास्तव में तो विक्रांत को पता था कि उसे पानी के भीतर कोई भी खजाना नहीं मिलने वाला क्योंकि विक्रांत को अदृश्य शक्ति के कोडवर्ड में भी चंद्रमा नहीं मिला था ऐसे में उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई खजाना मिलने वाला है लेकिन फिर भी वो पानी के भीतर सिर्फ इसलिए गया था ताकि वो थोड़ा टाइम वेस्ट कर सके और उसे उम्मीद थी कि जितना ज्यादा देर वो करेगा उसके यहाँ से बच निकलने का चांस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा झील के भीतर आने के लिए तैयार होने के पीछे विक्रांत का मकसद सिर्फ यही था कि वो झील के भीतर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था विक्रांत को उम्मीद थी कि अगर यहाँ से बचकर निकल जाने का कोई रास्ता मिल जाए तो फिर वो तारिक के आदमियों पर पीछे से हमला कर सकता है और यहाँ से सबको बचाकर निकाल सकता है हालांकि इस बात का चांस बहुत कम है लेकिन फिर भी विक्रांत को थोड़ी बहुत उम्मीद तो थी ही इसके साथ ही विक्रांत ने अपने दिमाग में एक दूसरा प्लान भी तैयार कर रखा था उसने सोच रखा था कि अगर यहाँ झील के भीतर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं भी मिलेगा तो वापस तारिक के पास जाकर उससे कह देगा कि मुझे पानी के भीतर खजाना मिल गया लेकिन वो बहुत भारी था और इस वजह से मैं अकेले उसे बाहर नहीं ले आ पाया और फिर तारिक को निश्चित तौर पर खजाना लेने के लिए अपने आदमियों को झील के भीतर भेजेगा और तब भी मौका मिलने पर विक्रांत उन पर अटैक करके यहां से बचकर निकल सकता है विक्रांत को पता था कि वो जितना लेट करता जाएगा उसके बच निकलने का चांस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और इस वजह से भी वो जानबूझकर डिले करने की कोशिश कर रहा था